मे वासि प्रगतिष्ठितम् आयिरा

भाष्य के ऊपर विचार चल रहा था ज्ञानी कर्म नहीं कर सकता पूर्वादि ने कहा था कर्म और उपासना ज्ञान के वादी ने कहा था कि पूर्व में कर्मकांड की चर्चा है उत्तर में आत्मा वैधमग्रे आशीर्वादी वाक्य आएगा ज्ञान कांड है जो पूर्व का कर्म है वही ज्ञान कांड के अधिकारी होगा ज्ञान कर्म समुच्चय होगा उसका फल है देवता भाव को प्राप्त होना हिरण्य प्राप्ति यही मोक्ष है इससे आगे कोई मोक्ष नहीं है ऐसे उनके कथन है जो कर्म और ज्ञान में समुच्चय आदि भक्ति प्रपंच है उपवर्ष हैं आदि आदि हैं तो उस मत का खंडन कर रहे थे ज्ञानी कर्म नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता है कर्म होता है देहाभिमान पूर्वक मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं जाति का अभिमान मैं अमुक आश्रमी हूं चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम का अभिमान होगा चाहे गृहस्थाश्रम का अभिमान होगा वर्णाश्रम दो आश्रम वर्ण का अभिमान होगा तत्पूर्वक कर्म होगा क्यों तत्त वर्ण तत्त आश्रम को लेकर के कर्म भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म है वैदिक कर्म एक ही नहीं है भिन्न वर्ण के लिए भिन्न कर्म है एक ही तो और ज्ञान होता है देहाभिमान को बाध करके वर्णाश्रम अभिमान को बाध करके होता है ना हम देह न में देह जो वर्ण और आश्रम धर्म को बात करके ज्ञान होता है आत्मभाव में पर ज्ञान होता है इसलिए ज्ञान कर्म का समुच्चय करना संभव नहीं है कर्म होता है अज्ञान अवस्था में और ज्ञान है ज्ञान अवस्था की बात है आत्माभाव में पहुंचने का ज्ञान होता है इस सिद्धांत का ज्ञान है अब क्रम समुच्चय जरूर है पहले निष्काम भाव से कर्म करेगा उपासना करेगा जिसके माध्यम से अंतकर्म की सिद्धि होगी उस अंतकरण की सिद्धि होने पर तत्वसी तो आदि महावाक्य जो सुनेगा वेदांत वाक्य सुनेगा उसका अर्थ समझेगा नहीं तो कितने बार कहने पर समझता नहीं है क्षेत्र जैसा विद्वान को उद्दालक जैसे कहने पर भी नौ बार कहने के बाद समझ में वही बात तत्वसी तो तत्व दृष्टांत बदल बदल के बोलते हैं तो इसलिए इस बहुत उलझने बहुत हैं इसलिए क्रम समुच्चय तो है अंतकरण की शुद्धि जब तक नहीं होती तब तक आत्मज्ञान नहीं होता अंतकरण की शुद्धि होने पर भी भूमि हमारा उर्वरा भूमि हो जाती है तो तत्व से आदि बीज बोया जाता है तो हम ब्रह्मास्म भावना जगेगी तब तक नहीं जग सकता ये भाष्यकार का सिद्धांत है इसलिए ज्ञान कर्म का समुच्चय होना संभव नहीं है और ज्ञानोदय होने पर कर्म रह नहीं सकता जैसे सूर्योदय होने पर अंधेरा नहीं रह सकता अथवा नदी पार हो जाने पर नौके की आवश्यकता नहीं होती है नदी पार होने के लिए नौका रूपी साधन हमने अपनाया था किंतु पार होने के बाद वो साधन को धोके नहीं चलेगा दीपक जलाने के लिए बहुत कुछ सामग्री आवश्यकता है दीपक जल गया तो उसका अंधेरा भगाना उसका काम होता है तो फिर अंधेरा भगाने के लिए किसी पूर्व साधन की अपेक्षा नहीं होती दीपक स्वतः काम करेगा जलने के बाद इसी प्रकार ज्ञानोदय का ज्ञान उत्पत्ति के लिए तो साधन है कर्मादि किंतु ज्ञान उत्पन्न होने पर मोक्ष प्राप्ति में ये काम नहीं आएंगे ये भाष्यकार का कहना इसलिए ज्ञान कर्म का सम समुच्चय हो नहीं सकता क्रम समुच्चय है सम समुच्चय हो नहीं सकता ये खंडन चल रहा है तो पूर्वादि ने एक शंका उठाई थी जैसे भिक्षुक है उसके लिए भी भिक्षाटन आदि में नियम है शौचादि में नियम है उसी प्रकार एक जो गृहस्थाश्रम में बैठा हुआ है किंतु साध्य साधक यशमा उभय से मुक्त है कुछ नहीं चाहिए ऐसी स्थिति में बैठा है तो वो भिक्षा क्षुदा निवृत्ति के लिए जैसे भिक्षु भिक्षा आदि करेगा वो भी क्षुदा निवृत्ति की दृष्टि से घर में रहेगा घर में बैठ करके अपना जीवन यापन करेगा तो कहा कहा भाष्यकार कहा वो ठीक नहीं हो सकता है क्योंकि ज्ञानी की जो प्रवृत्ति है भिक्षाटन आदि में प्रवृत्ति वो प्रवृत्ति उसके प्रयोजक नहीं होता अन्य प्रकार क्षुदा निवृत्ति के कारण ही गया हुआ है किंतु अग्निहोत्रादि करता रहे बोला था पूर्वादि ने घर में रह करके वो भी नियम है यावत जीवत श्रुति है कहते हो अग्निहोत्रादि कर नहीं सकता अगर वो साध्य साधना ऐसा उभय से विधन मुक्त है तो अग्निहोत्र कर नहीं सकता ये चल रहा था तो इसके लिए कहा था देखो जो नियोज्य होता है नियोग सिद्धि के लिए होता है माने अधिकारी जो होता है नियोज्य होता है अधिकारी स्वर्ग काम हो ये तो वाक्य है उसका अधिकारी जो होगा का माने स्वर्ग चाहने वाला व्यक्ति अधिकारी होगा वो नियोज्य है नियोग होगा वाक्य नियोज्य व्यक्ति जो होता है अधिकारी तत्त कर्म करने का जो अधिकारी होता है वो नियोग सिद्धि के लिए वो विधि वाक्य की सिद्धि के लिए इसके लिए विधि की अर्थ सिद्धि के लिए ऐसा होता है और विधि किसके लिए होता है ये प्रवृत्ति सिद्धि के लिए ज्ञानी की जब प्रवृत्ति नहीं है प्रवृत्ति में प्रयोजन है तो उसके लिए वियोग भी काम नहीं करेगा वियोग वही काम करता है जहां प्रवृत्ति करवाना हो जैसे कामी व्यक्ति सामने है स्वर्ग की इच्छा है सुना है स्वर्ग के बारे में सुना है इच्छा है तो स्वर्ग का काम हो जाता उसने केवल साधन बता दिया वाक्य नियोज्य व्यक्ति की प्रवृत्ति कराने के लिए नियोग जो हुआ है उसको प्रवृत्ति कराने के लिए तो ज्ञानी ये प्रवृत्ति नहीं करा सकता है क्यों वो नियोग का विषय नहीं है क्यों वो ईश्वरात्म भाव में पहुंचा हुआ है जिसे जिस वेद भी परमात्मा के मुख से निकला हुआ है उस परमात्मा भाव में ज्ञानी पहुंचा अहम ब्रह्माष्ट भाव में पहुंचा हुआ है इसलिए वेद उसको आज्ञा नहीं दे सकता तो नियोग काम नहीं करता हाँ प्रवृत्ति होती है प्रकारांतर से कैसे होगा ये आगे बोलना चाहते हैं पूर्वाजी बोलता है नियम विधौ नियोज्य अनपेक्षायाम अपनी ठीक है नियम विधि है फिर भी नियोज्य की अपेक्षा नहीं है क्योंकि नियोज्य प्रयोग होता है किसी ने नियोग सिद्धि के लिए और नियोग सिद्धि नियोग के प्रयोग क्यों किया जाता है प्रवृत्ति सिद्धि के लिए तो प्रवृत्ति प्रकारांतर से होता हो तो नियोग की अपेक्षा नहीं है नियम विधो नियोज्य अनुपेक्षा जो नियम विधि है जैसे भिक्षा वृत्ति कुरियात ऐसा आया है जीवन यापन करके भिक्षा मात्र से करे इत्यादि वृत्ति दिया है तो नियम विधि है सन्यासी के लिए भिक्षा करके खाना कहा है क्यों तो, तो कौन सी सन्यासी या आगे विचार करेंगे सन्यासी दो प्रकार के हैं विद्वत सन्यासी है अथवा अविद्वत सन्यासी है किसके लिए वो वाक्य प्रयोग है ये भी विचार करना होगा विचार चलेगा विद्वत सन्यासी के लिए कोई नियम लागू नहीं हो सकता ये सब कर रहे हैं ज्ञानोत्तर संन्यास अप्रोक्ष आत्म साक्षात्कार जिसको हो चुका है उसके लिए नियम नहीं है कश्य कार्य न विद्यते उसके लिए कोई कार्य नहीं होता ये बोलना चाह रहा है पूर्वादि बोलता है नियम विधो नियोज्य अनपेक्षाएं अभी नियम विधि में नियोज्य व्यक्ति की अपेक्षा नहीं होती है फिर भी तस्य क्लेशात्मक जो नियम होता है कष्ट होता है नियम को पालन करना इतना सरल नहीं है कोई भी नियम होगा उसको पालन करना बड़ा क्लेश है यद्यपि नियोज्य की अपेक्षा नहीं है नियम विधि में फिर भी वो क्लेशात्मक है नियम कष्ट स्वरूप है नियम का पालन करना कठिन होता है इसलिए अपेक्षा बात है नियम का कोई प्रयोजन तो होगा जैसे जैसे नियम है जिस आश्रम के लिए जो नियम लगाया गया है उसका कोई प्रयोजन तो होना चाहिए तद अभावाद न नियम सिद्धि संकट हो इसलिए यहाँ प्रयोजन कुछ आई नहीं उस ज्ञानी के लिए उसके लिए तो नैवत से कृत्य हो ना कृत्य कसन ज्ञानी के लिए कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है तद अभावात्मा नियम नियमाभाव प्रयोजनाभावात न नियम सिद्ध नियम की सिद्धि नहीं होगी ये शंका करता है पूर्वादी ये कहा अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियमों की प्रयोजनाभाव जे सिद्धांत ने कहा था उसकी जो प्रवृत्ति हो रही अर्थ से प्राप्त है माने नियोग वाक्य से प्राप्त नहीं है ये तो अर्थ से प्राप्त है क्षुदा आदि के कारण से अर्थ से प्राप्त है उसकी जो प्रवृत्ति हो रही है अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति है अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियोग होगी जो भिक्षाटन आदि पे प्रवृत्ति उसकी हो रही है अर्थ प्राप्त है नियोग नहीं कर पा रहा है विधि नहीं है वहां न होने पर भी प्रयोजनाभाव अनुपन्न तो प्रयोजन है ही नहीं प्रवृत्ति का तो प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए नियम नहीं होनी चाहिए ये पूर्वाली ने कहा था सिद्धांत का ना ऐसी बात नहीं है देखो अभी वो आत्म साक्षात्कार करके बैठा हुआ है माने मुक्त अवस्था में जीवन मुक्त अवस्था में वर्तमान में किंतु पूर्व जब मुमुक्षु अवस्था में था कितने उससे सुलझा हुआ साधक रहा होगा वो पूर्व अवस्था में उसके कैसी वृत्ति रही होगी सारे नियम का पालन किया होगा उसने वहां वहां तो नियम था उसके लिए पूर्व अवस्था में सारा नियम का पालन किया वो संस्कार आज उसके पास है वो संस्कार के कारण आज भी वही काम करेगा करना चाहते हैं अभी उसके लिए नियम नहीं है फिर भी पूर्व नियम का संस्कार उसके पास है तो पूर्व जीवन उसका सुलझा हुआ जीवन था तभी तो ये आत्मसाक्षात्कार में पहुंचा हुआ है अभी जब मुमुक्षु अवस्था में था जो जो नियम था सारा पालन किया है उस काल में उसने तभी तो इस क्षेत्र में पहुंचा हुआ है एक कहना चाहते सिद्धांत ना तन नियम से पूर्व प्रवृत्ति सिद्धत्व उसका जो नियम है नियम है पूर्व प्रवृत्ति सिद्ध है वर्तमान अवस्था की नहीं पहले की पूर्व अवस्था जब साध माने साधक अवस्था में था माने मुमुक्षु अवस्था में था वो व्यक्ति अभी तो मुक्त अवस्था में है जीवन मुक्त अवस्था में है आत्मा साक्षात्कार कर बैठा है विद्वत संन्यास में है किंतु जब विविदेशु संन्यास अवस्था में था उस था उस अवस्था में तन नियम से पूर्व प्रवृत्ति सिद्ध ये जो अभी नियम दिख रहा है भिक्षाचरण आदि जो उसमें नियम दिख रहा है प्रयोजन न होने पर प्रवृत्ति हो रही क्यों हो रही अभी प्रयोजन नहीं दिखा तो पूर्व का जो उसके आचरण था भिक्षाचरण के द्वारा ही जीवन निर्वाह कर रहा था पहले उसके संस्कार है उसके पास इसलिए आज भी वही काम करेगा जो संस्कार जिसके पास है वही काम करता है दूसरा काम नहीं कर सकता एक आपका नियम है सब जो भिक्षाचरण आदि में नियम है शौच आदि में नियम है सन्यासी के लिए दो नियम कहा था वो नियम वर्तमान में उसके लिए लागू नहीं है किंतु करेगा वही आज क्यों पहले ऐसा काम करता था पहले नियम मान करके करता था आज नियम में न होने पर भी वो संस्कार के बल से वही कर रहा ये कहा तन नियम ऐसा जो शौचादि का नियम है दीक्षा आदि नियम है पूर्व प्रवृत्ति से तत्व पूर्व पूर्व प्रवृत्ति उसकी थी पहले यही काम करता था वो सारा नियम का पालन किया था तभी तो इस भाव में पहुंचा है वो पूर्व प्रवृत्ति मुमुक्षु अवस्था की जो प्रवृत्ति है उस काल की जो साधना है सिद्धत्व तद है यत्न गौरवा उस संस्कार को दबा करके आज अनियम वृत्ति दूसरे वृत्ति में जाने लिए प्रयत्न करना पड़ेगा उसको वो तो सहज हो गया है जैसे पानी को नीचे जाना एक संस्कार बना हुआ है कुछ नहीं करना पड़ता पानी को उल्टा करना हो तो बहुत कुछ करना पड़ेगा मोटर लगाना पड़े क्या पाइप लगाना पड़े क्या क्या करना पड़ेगा वैसे ही उसको जो उस वृत्ति में चलना भिक्षाटन आदि वृत्ति में चलना और शौचादि के नियम का पालन करना वो संस्कार है संस्कार के बल पर वही कर रहा हो किंतु तो आज को छोड़ करके आज अन्य यथेष्ट चरण में जाने लग जाएगा उसके लिए प्रयत्न विशेष करना पड़ेगा ये कहा पूर्व प्रतिषेध तद अधिक्रमे उस नियमों का अतिक्रमण करने में वो तो स्वाभाविक हो रहा दोष के पास तद अतिक्रमे यत्न गौरव प्रयत्न गौरव होगा उसके लिए अर्थ प्राप्त से उत्थान से पुनर्वचना विदुषा कर्तव्य अर्थ प्राप्त व्युत्थान है उसका फिर भी कहा कि भिक्षा चरणादिना एवं वृत्ति कुरिया जो नियम बताया है पुनर्वचन जो उसको कर्तव्य है अर्थ प्राप्त है यदि फिर भी कर्तव्य है क्यों संस्कार के बल पर कर्तव्य है पूर्व संस्कार उसका वैसा ही है पहले जीवन सुलझा हुआ जीवन है उसका कुछ लोग कहते हैं ज्ञानी के लिए कर्तव्य नहीं है तो जो चाहे वो करने लग जाएगा अभक्ष भक्षण आदि सब कुछ अरे बाबा कुछ भी खाता पीता रहता है संस्कार के बल पर होता है किंतु उसको पूर्व जीवन तो देखो ना पूर्व जीवन में उसने ऐसा काम किया होता तो स्थिति में जाता नहीं वो पूर्व जीवन बहुत सुलझा हुआ जीवन है तो वही संस्कार आज भी काम कर रहा है उसको यही होता है वो पूर्व संस्कार काम करता है वही कर रहा है यही होता है इसलिए अर्थ प्राप्त है यदि व्युत्थान उसके लिए व्युत्थाय भिक्षाचरम चरित आदि वाक्य अर्थ प्राप्त है उसको वहां से कहीं कुछ करना नहीं है तो होने पर भी पुनर्वचना फिर भी आप विदित्वा व्युत्थाया जो वाक्य आता है तो वो वाक्य फिर भी उसके लिए लागू दिखाई पड़ता है अर्थ प्राप्त होने पर कर्तव्य दिखाई देता है संस्कार के बल पर हो रहा उसका ये कहा टीका से नहीं तन नियम से आप पूर्व वासना बसा वो जो नियम पूर्व नियम का जो पालन कर रहा है अभी भी भिक्षाचरणी करके जीवन निर्वाह कर रहा है आत्म साक्षात्कार है कर्तव्य उसके लिए नहीं है वो जैसा चाहे वैसा रहे हाँ, श्रुति उसको आज्ञा नहीं दे सकती है क्यों श्रुति के भी पैदा करने वाला हो चुका है वो माने परमात्मा भाव में पहुंचा हुआ है आत्म साक्षात्कार होने पर अहम ब्रह्मास्त में पहुंचा है तो श्रुति भी उसी के मुख से निकली हुई है ऐसी स्थिति में है कहते हैं वो जो नियम का पालन फिर भी करता है क्यों तो कहते हैं तन नियम इससे जो भिक्षाटन आदि का नियम शौचादि का नियम पालन कर रहा है पूर्व वासना प्रसाद पूर्व संस्कार के बल है पहले नियम का पालन करता था तभी तो स्थिति में पहुंचा है वो पूर्व सांस्कारिक बल पर हो रहा है मैंने विद्युत सन्यासी का नियम के बारे में बोल रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं फिर भी पूर्व संस्कार ऐसा ही तो ऐसे ही करेगा देव प्राप्त तथा भी न नियमित आभाष तो इसमें भी अभी वर्तमान में जो उसको नियम का पालन करता है नियम विधि नहीं लगेगा वहां उसको शास्त्र उसको नियोज्य नहीं बना सकता अनुकाश होगा नियम विधेयर अवकाश हो ये ना प्रयोजन अपेक्षा से आप कहा उसमें भी कोई नियम विधि का अवकाश नहीं जिससे कि नियम विधि होता तो प्रयोजन के लिए नियम होता प्रयोजन नहीं है तो नियम क्यों ऐसा नहीं कर सकते ये कहा भी कहा नव की टिप्पणी है नियम विधि आयत तत्व आवत माने नियम विधि के अधीन वो होता नहीं है पूर्व संस्कार के बल से वही काम हो रहा है क्योंकि श्रुति बोलती है इसलिए करता है ऐसा नहीं है पहले श्रुति बोलती थी करता था आज श्रुति के बाद वचनों के आदेश के पालन करने की आवश्यकता नहीं किंतु वही संस्कार बना हुआ है इसलिए कर रहा ठीक है ना आगे यद्यपि न व आदि ना जीवन सिद्ध थी यद्यपि ऐसी स्थिति है चाहे नियम पूर्वक भिक्षाटन करे चाहे अनियत वृत्ति से जीवन यापन करे जीवन यापन दोनों तरह से चल सकता है भिक्षा वृत्ति से करे या अन्य वृत्ति करे परिग्रह वृत्ति करे भिक्षा मैंने जीवन यापन तो करना है चल सकता यद्यपि नियत माने नियम विधि के द्वारा भिक्षाटन आदि वृत्ति के द्वारा अनियत भिन्न प्रकार से अन्य प्रकार से भी जीवन यापन हो सकता है भिक्षाटन आदि ना जीवन थी नियत हो चाहे अनियत हो ऐसे भिक्षाटन आदि के द्वारा जीवन निर्वाह हो सकता है सिद्धति तथापि विद्योत्पत्ति पूर्वम विद्या सिद्ध्यर्थम ज्ञान उत्पत्ति के पहले आत्मज्ञान होने के पहले उसने जो जिन जिन नियमों का पालन किया था किसके लिए ज्ञान उत्पत्ति के लिए अंतकर्म शुद्धि के साथ अनुसार अपनाया था ऐसा करने से अंधकर्म शुद्ध होता है ऐसा करने से होता है सब नियमों का पालन किया था तो ज्ञान विद्योत्पत्ति पूर्वम फिर भी विद्या उत्पत्ति के पहले आत्म साक्षात्कार होने की पूर्व अवस्था में परोक्ष ज्ञान था और अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ था उस काल में शास्त्र जो जो बोलता था करने लग गया था ज्ञान नहीं होगा तो करेगा भी नहीं परोक्ष ज्ञान तो होना चाहिए सामान्य ज्ञान है विशेष ज्ञान नहीं है इस स्थिति में साधन करता है व्यक्ति तो तथा विद्योत्पत्ति पूर्वम विद्या सिद्ध्यर्थम ज्ञान माने आत्म साक्षात्कार होने के पूर्वस्था में उस आत्म साक्षात्कार की सिद्धि के लिए नियम से अनुष्ठित उस काल में अनुष्ठान किया नियम का सारा नियम का पालन किया हुआ उसने भिक्षातन आदि के द्वारा वृत्ति यापन किया है जीवन यापन किया है और शौचालय के बारे में विशेष ध्यान रखा पवित्रता किस तरह होना है सब किया है उसने अनुसूचित्वा तद वासना प्राबल्य तो वही वासन प्रबल है अभी भी वही संस्कार आज है उसी का संस्कार प्रबल है आज तो प्यार हो चुका है यानी ज्ञान अवस्था में हो प्राबल्यात विद्युत्पत्ति अनंतरम पति विद्या मान आत्मसाक्षात्कार के पश्चात भी अनंतर भी नियम प्रवर्तते नियम में ही उसकी प्रवृत्ति होगी यहां पर यह जो है बाबा लगा हुआ है सप्तमंद है वो नियम एवं प्रवर्तते नियम में ही उसकी प्रवृत्ति होगी न अनियम है अनियम में प्रवृत्ति नहीं यदि यथेष्ट आचरण कर जाए जैसा चाहे वैसा करे माने श्रुति उसको कुछ नहीं बोल सकती है तो कुछ भी करने लगे नहीं कर सकते संस्कार के वशीभूत हो रखा हो पूर्व संस्कार वही काम कराएगा उसे पूर्व जैसे करता था यही होगा ये काम तद वासना नाम नियम वासना भी अत्यंत अभिभूतत्व है वो जो पूर्व संस्कार वासना है संस्कार है जो अंतगम शुद्धि के लिए जो भिक्षातनादि नियम का वासना संस्कार है वो संस्कार के द्वारा संस्कार वासना नाम नियम वासना भी जो तो अनियम वासना जितने भी थे उसका नियम वासना के द्वारा नियम रूपी वासना से अभिभूत हो चुके हैं उसके पास है ही नहीं अन्य प्रकार कर ही नहीं सकता वही संस्कार वही करेगा वो अनियम वासना वाले का नियम वासना के द्वारा जो नियम का संस्कार है उसके द्वारा अत्यंत अभिभूतत्व अत्यंत दब गया है वो इसलिए वो यथेष्टाचरण आदि कर ही नहीं सकता जैसे पहले काम करता था वैसे ही शौच करेगा शौच आदि करेगा वैसे ही भिक्षाटन आदि वही करता है पुनः तद उद्बोधन से यत्साप्यत्व फिर दोबारा वो जो गलत संस्कार लाना हो तो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा अच्छे संस्कार तो बना हुआ है उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा जैसे पानी को नीचे बहाना सरल हो गया है वैसे ऊपर लाना कठिन पड़ेगा वैसे उसको अगर गलत वासना लाना हो तो प्रयत्न करना पड़ेगा ये कहा पुनस्तर उद्बोधन से फिर वो जो अनियत संस्कार को लाना हो उसके लिए क्या होगा यत्त साध्य प्रयत्न साध्य है वो इसलिए क्यों करेगा प्रयत्न क्यों करेगा उसके लिए तथा तत्र न प्रवर्तित इसलिए अनियत संस्कार में प्रवृत्ति नहीं होती उसकी अनेक माने गलत काम में प्रवृत्ति नहीं हो सकती ज्ञान की नियमों की अर्थ सिद्ध हो इसलिए नियम भी अर्थ से सिद्ध हो गया पहले जैसा करता था वैसे पालन कर रहा अभी भी यद्यपि नियोग नहीं है उसके लिए वचन नहीं है फिर भी पूर्व में जो कार्य कर रहा था वही करता भिक्षाटन आदि उसी प्रकार संस्कार के बल पर कर रहा है अर्थ सिद्ध नियम हो जाएगा उसका कहा माने श्रुति सिद्ध तो नहीं है किंतु अर्थ सिद्ध है अर्थापत्ति सिद्ध का ये तो प्रत्यवाय परिहार अर्थोत्तम भी नियमानुष्ठान स्मृत इसलिए ये भी है ज्ञानी भी प्रतिवाय परिहार के लिए नियम का अनुष्ठान करता है कहा था वो भी उसके लिए आवश्यकता न होने पर भी करेगा वही पहले जो प्रतिवाय के परिहार के लिए जैसे नियम का पालन था वही संस्कार है आज वही करेगा तस्य विदुष प्रतिभा अप्रसत्य है उस ज्ञानी को प्रतिभा संभव ही नहीं है तो करेगा नियम का पालन कर रहा है एवं उक्त रीत्या व्युत्थान से विधि बिना स्वतः प्राप्त होती जो व्युत्थान है व्युत्थान मान संन्यास त्याग लोकेश वित्तेश पुत्रेश त्याग को संन्यास करते मुख्य संन्यास यही है हाँ। माने सारे संसारी भोगों की इच्छा समाप्त हो जाए ये त्याग इसका का नाम संन्यास होता है सम्यक न्यासा संन्यास सम्यक प्रकार से परित्याग करना माने चौदह भोगों का जो भोग है सारे भोगों का तिलांजलि देना भीतर से फेंक देना नहीं चाहिए बुद्धि आ जाना इसी का नाम संन्यास होता है <coughs> एवं उक्त रीत्या इस तरह से व्युत्थान से जो संन्यास है विद्वत संन्यास विधि विनाश होता प्राप्त विधि के विनाश होता प्राप्त संन्यास क्या इसलिए उसके लिए विधान की आवश्यकता होने पर भी तत्कर्तव्यता विधि में भी विधित्व तब उसके कर्तव्यता विधि वाक्य भी फिर भी माना जाता है यद्यपि उसका आवश्यकता नहीं है फिर भी विधि भी वहां लागू किया जाता है ऐसा विदिता या भिक्षाचर्य चरंती इत्यादि वाक्य है माने विदित्व तो पहले उस आत्मा को जान करके जाना माने परोक्ष रूप से जान करके फिर वित्थाय फिर वहां से ऐसाओं से ऊपर उठ करके आत्मा को सामान्य ज्ञान होगा तभी तो ऐसा त्यागने का चक्कर करेगा या विदित्व तो पहले आता है तो परोक्ष ज्ञान प्राप्त करके उसके बाद संन्यास विदित्व तो वित्थाय जान करके फिर व्युत्थान त्याग करके लोकेशन आदि का त्याग कर इत्यादि कम अनुमोदत है इत्यादि जो वाक्य है व्युत्थाय विदित्वा है भिक्षाचर्य चरंती ये वाक्य ये यहाँ अनुमोदन किया जाता है उसको भी मान लिया जाता है विद्वान अनुमोदत है विद्वान उसको भी स्वीकार कर लेता है वाक्य अर्थ प्राप्त से इत्यादि कहा अर्थ प्राप्त से व्युत्थान से पुत्र बचा उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं फिर भी व्युत्थान के लिए वाक्य है विदित्वा वित्था या भिक्षाचर्य चरंती ये वाक्य है उसको भी स्वीकार कर लेता है क्योंकि विदित कर्तव्य तो उत्पत्ति है विधि माने विधि वाक्य के भांति कर्तव्य तो दिखाई पड़ता है वहां आगे शंका है न विधे प्रयोजना भावो अपकर्तव्य अरे विधि का प्रयोजन तो है नहीं प्रवर्तक है नहीं विधि वहां उसके लिए प्रवर्तक नहीं बनेगा प्रेरक नहीं बन सकता है तो प्रयोजन का भाव होगा सिद्धांत कहते नवाज से ऐसा नहीं क्यों देखो प्रयोजन भी है माने संन्यास में वित्ता या शिक्षा में संन्यास क्या है प्रयस उच्चारण अवैधान आदि प्रयोजन भी है संन्यास में प्रयस उच्चारण करना प्रयस मंत्र का उच्चारण करना अवैधान देना मत्ता भयम मास्तु कमर भर पानी में बैठ करके खड़े होकर के दोनों हाथ खड़ा करके हमने शपथ खाई हुई है आज भूल गए हम लोग मेरे से कोई प्राणी भयभीत न हो मैं किसी के पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा मन से पानी से शरीर से ऐसा हमने प्रतिज्ञा की हुई है ऐसी स्थिति में अहिंसा का प्रण लेके बैठे हुए हैं उस दिन ये स्थिति तो ये इसके लिए विधान है प्रैस उच्चारण अवेदान आदि जो संन्यास का विधान है विधान आदि वैध मुख्य विधि विधि संबंधी को वैध का विधि संबंधी मुख्य धर्म प्राप्त अर्थ में जो विधि संबंधी मुख्य धर्म होते हैं विधान पूर्वक होने वाला धर्म प्रश उच्चारण अवेदान आदि है यही इस प्राप्ति के लिए विधेयर अर्थवत्वा उसके लिए विधि का भी अर्थवान हो जाएगा पद्धति संन्यास पद्धति विधान है उसका भी अर्थवान हो जाएगा न तो तस्या भी व्यर्थ सके उसके लिए प्रेषोत्याग अभयदान आदि भी व्यर्थ ही होगा वो ज्ञानी के लिए प्रश्न भी नहीं कर सकते क्यों विदुषी परमंश लोक संग्रह यद्यपि उसके लिए आवश्यकता नहीं है फिर भी लोक संग्रह के लिए आवश्यकता है क्यों यद्यता चरती श्रेष्ठ तत्व देवे तरो जना सयत प्रमाण कृते लोकस्तन वर्तते गीता में ऐसा कहा है बड़े लोग जैसे जैसे आकलन करते हैं छोटे लोग देखा देखी में वैसे वैसे करने लग जाते हैं यदि ये व्यक्ति प्रेसोच्चारण नहीं करता अवैधान आदि नहीं करता तो आगे वाले भी नहीं करेंगे इसका तो नहीं बिगड़ने वाला किंतु तो आगे वाला के बिगड़ जाएगा इसे लोक संग्रह के लिए करता है अपने लिए जरूरत नहीं होता कहा विदुषी परमहंसे जो विद्वान ज्ञानी है उसके लिए ये क्यों करना है प्रेस उच्चारण और अवैधान आदि को कहा लोक संग्रह आगे लोगों को शिक्षा देने के लिए तो बड़े लोग जैसा करते हैं छोटे वैसे ही करता है छोटे लोग वैसे ही चलते हैं अनुयायी हो जाते हैं हम केवल पढ़ करके ही नहीं देख देख करके बहुत कार्य करते हैं हाँ सुन सुन करके मात्र नहीं होता देख करके हम ज्यादा काम कर ज्ञान आर्जन कर लेते हैं बड़े लोग जैसा करते हैं देखा देखे हाँ, तो ये वो छोड़ देंगे यदि तो यहाँ भी यही होगा ऐसी स्थिति हो जाएगी यदि है हम न हम धातु कर्म तंत्रता अतंत्रता यदि आलस्य रहित होकर के न रहो तो क्या होगा यहाँ सारे मनुष्य मेरे मार्ग में आ जाएंगे मैंने सब छोड़ देंगे कर्म छोड़ देंगे मेरे लिए तो कोई बिगड़ने वाला नहीं नवे पार्थास्त्र कर्तव्य कर्तव्य त्रिशिलोकेश किंचन बाप्तम बाप्तम बरते कर्म है वो कहते हैं देखो भाई मेरे लिए कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है कोई कर्म क्यों कहे जाता है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए मैं तीनों लोगों का मालिक हूं तो मेरे लिए कोई अप्राप्त तो है ही नहीं अप्राप्त की प्राप्ति के लिए कर्म होता है स्वर्ग अप्राप्त है उसके लिए कर्म करना है अप्राप्त की प्राप्ति की सिद्धि के लिए कर्म होता है मेरे लिए अप्राप्त कुछ भी नहीं फिर भी मैं कर्म में लगा हुआ हूं सोचो क्यों किया होगा कर्म लोक संग्रह मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है मैं संसार का मालिक हूं सब कुछ प्राप्त है किंतु तो? आगे वालों को बिगड़ जाएगा देख करके भगवान ने नहीं किया तो हम क्यों करेंगे लोग छोड़ देंगे मामला गड़बड़ होगा लोगों का इसलिए मैं कर <clears throat> ऐसा कहा है तो विदुषी परम से लोक संगीत कैशोच्चारण अवैधान आदि भी जो संन्यास का धर्म है मुख्य धर्म है वो भी करता है बोला दीदी तो न होने पर भी लोक संग्रह के लिए करता है ये कहा तस्य तो संग्रह पूर्वाभ्यस्त मैत्री करुणामृत वासना प्राप्त ब्रह्म विद्या उपदेशाद इव अपेक्षण प्रयोजन अनपेक्षण वो जो लोक संग्रह भी कोई प्रयोजन होगा कहते हैं प्रयोजन नहीं उसका बिना प्रयोजन करता है वो भी क्यों देखो तस्य तो जो लोक संग्रह हो तो तस्य तो संग्रह से जो लोक संग्रह के लिए कर रहा है जो काम हो ये ये क्या है पूर्व में जो अभ्यस्त था पहले वही काम करता था वो मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम इत्यादि जो था वो काम करता था पूर्व अभ्यस्त था मैत्री करुणादि वासना वो संस्कार उसके पास प्राप्त है पूर्व में यही काम करता था वो वासना प्राप्त होने से संस्कार होने से ब्रह्म विद्या उपदेश आदि जैसे ब्रह्म विद्या उपदेश में कोई प्रयोजन नहीं फिर उपदेश करता है वो प्रयोजन अनपेक्षणा प्रयोजन के बिना ही ऐसा काम करता है क्या करता है तो टिप्पणी का एक टिप्पणी कहा पूर्व पूर्व माने चित्त शोधन काल अनुष्ठान हम्म। अनुष्ठान काले इत्यर्थ चित्त शोधन काल के शोधन के अनुष्ठान काल में जैसा करता था माने अंतर्गत शुद्धि के समय में बहुत सावधान पूर्वक था सबके साथ मैत्री व्यवहार करता था करुणा व्यवहार करता था हाँ बुद्धि प्रसन्न होना और उपेक्षा करना किसी को पापी व्यक्ति देखे को निंदा नहीं करता था उपेक्षा करके छोड़ देता था ऐसा तो योग सूत्र में कहा इस बात को कहा पतंजल योग सूत्र में कहा है तथा योग शास्त्र योग सूत्र में कहा मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनात चित्त प्रसाद अंतकरण सिद्धि की भी साधन है ऐसा बताया योग सूत्र में ऐसा बताया पतंजलि ने मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम सुखी व्यक्ति के देखो कर मैत्री भाव करना मित्रता करना होता क्या है सामान्य जनों का सबकी ईर्ष्या आ जाती है ये कैसे इतना बड़ा हो गया इसको क्यों सुख मिल रहा है मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है वो तो मुझे मिलना चाहिए था ईर्ष्या होती है किंतु अंतकर्म शुद्धि करना हो जिसको सुखी को देख करके प्रसन्न होना चाहिए मैत्री मित्रता होनी चाहिए शत्रु भाव नहीं लाना चाहिए सामान्य जन शत्रु भाव करते हैं जो व्यक्ति सुखी होगा सामने वाला द्वेष पैदा हो जाएगा ये क्यों सुखी हो रहा मैं क्यों नहीं होता किंतु सुखी व्यक्ति को देख करके मैत्री भाव आना ऐसा करने से अंतकर्म की शुद्धि होती है हमारी एक दूसरा दुखी व्यक्ति को देख करके दयालु हो जाना करुणा करना उसको कुछ डांट पड़कार नहीं करना अरे कुछ नहीं कर सकते दयावान हो जाना इस ऐसा करने से भी अंतकर्म की शुद्धि होती है दो साधन तीसरा कहा पुण्यात्मा धर्मात्मा को देख करके क्या होना है <clears throat> प्रसन्न हो जाना मुदित हो जाना प्रसन्न हो जाना यह नहीं कि धर्मात्मा देख करके द्वेष कर जाना इससे भी अंतकरण की शुद्धि होती है और पापी को देख रहे अपुण्य व्यक्ति पापी व्यक्ति है उसको देख करके उपेक्षा कर रहे हैं नहीं कि उसके लिए गाली फटकार करता रहे उपेक्षा दृष्टि से तो ऐसा करने से चित्त की प्रसन्नता हो जाती है मतलब चित्त शोधन हो जाता है ये चार काम है चार व्यक्ति में चार तरह से देखना है सुखी को देख करके मैत्री भाव दुखी को देख करके करुणा भाव और पुण्यात्मा माने धर्मात्मा को देखकर प्रसन्नता भाव हर्षित हो जाना और पापी को देख करके उपेक्षा करना ऐसा करने से हमारी चित्त की शुद्धि हो जाए ऐसा कहा प्रसाद प्रसारण ये बोला ये कहा ये कहा था तस्य तो जो लोक संग्रह क्यों होता है पूर्वाभ्यस्त है वो पहले ऐसे काम कर रहा था वो तो अभी को ही करेगा ज्ञान के बाद पूर्वाभ्यस्त मैत्री करुणा आदि वासना प्राप्त होना वह संस्कार प्राप्त होने से ब्रह्म विद्या उपदेशाद जैसे ब्रह्म विद्या का उपदेश पहले करता था अभी भी करने जा रहा है अभी उसका तो प्रयोजन नहीं है फिर भी कर रहा है करता है प्रयोजन अनपेक्षणा बिना प्रयोजन के काम होता है पहले तो प्रयोजन था लोक संग्रह करना कि इस समय तो ऐसे हो रहा है उसका ये कहेंगे यदा अथवा प्रारत कर्माक्षिप्त देहेन्द्रियादि प्रतिभा न अविचारित यावत जीवादि स्मृति जनित कर्म कर्तव्यता भ्रांत तन निवर्तन है नवाब विदुषो वित्थान विधेयर अर्थवत्व करते अथवा ये संन्यास क्यों करता है ज्ञानी संन्यास विधान विदित्वा वित्था या भिक्षाचरण चलती ज्ञान करके उसके बाद वित्थान करना आया उसके बाद भिक्षाचरण आया है तो क्यों करना ये तो ऐसा करना देखो प्रारब्ध कर्म जब तक शरीर शेष है प्रारब्ध कर्म आक्षिप्त है यहाँ प्रारब्ध न होता तो शरीर नहीं रहता शरीर है तो प्रारब्ध है माने ज्ञान हो गया है संचित कर्म आगामी कर्म तो हो गया संचित कर्म नाश हो गया आगामी कर्म उसको संश्लेष ही नहीं होगा छुएगा ही नहीं जो अन्य का कर्म अन्य में नहीं जाता है माने ज्ञान काल में अपने को शरीर से भिन्न समझता है शरीर यदि कोई कर्म करता है तो अपना कर्म नहीं उसका असंश्लिष्ट रहेगा वहां ज्ञानोत्तर कर्म किंतु प्रारब्ध कर्म भोग से क्षय होना है क्यों प्रारब्ध भी क्षय हो गया होता तो शरीर नहीं दिखना चाहिए शरीर है अभी इसका मतलब शरीर है तो प्रारंभ जरूर है प्रारंभ कर्म के द्वारा आक्षिप्त जो देहेन्द्रियादि है देहेन्द्रियादि का प्रतिभास होगा उसका अभी शरीर पात नहीं हुआ है जीवन मुक्ति अवस्था में है वो आत्म साक्षात्कार है जीवन मुक्ति अवस्था में है शरीर पात नहीं हुआ है प्रारंभ कर्म के द्वारा आक्षिप्त जो देहेन्द्रियादि है जब प्रारंभ कर्म है तो शरीर आदि है उसके पास आक्षिप्त है आक्षिप्त देहेन्द्रियादि का प्रतिभास है वास्तव में शरीर आदि नहीं शरीर आदि जैसा जली हुई रसी जैसा उसको भाषण होता है देहादि का प्रतिभास होता है होने से अविचारित यावत जीवादि श्रुति उस काल में जो शरीर आदि का भान होगा उस काल में क्या आ जाएगा यावत जीवित अग्निहोत्रों जीवाद ऐसा वाक्य उसको ध्यान में आ जाएगा जीवन है सोचेगा तो यावत जीवन विचार करने पर तो नहीं मेरे लिए नहीं अज्ञानी के लिए सोचेगा अविचारित अवस्था में यावत अविचारित कहा अविचारित यावत यावत जीवादि श्रुति जनिता जब अविचारित अवस्था में या विचार नहीं किया ये किसके लिए श्रुति लागू होने वाली है अविचारित अवस्था में यावत जीवादि श्रुति से उत्पन्न जो कर्म करते रहा हो जब तक जीवन है कर्म करना चाहिए ऐसी भ्रांति भ्रांति पैदा हो गई देहेन्द्रिय आदि का प्रतिभास हुआ है प्रारंभ कर्म के आक्षेप से और देहेन्द्रिय के प्रतिभान होते यावत जीव अविचारित काल में उसको ऐसा कर्म करने के प्रतिभान हो गया तन निवर्तन है उस स्थिति में फिर उसकी निवृत्ति के माध्यम से उस कर्म की निवृत्ति के माध्यम से विदुषो वित्थान विधेय कर्म करने की जो प्रसक्ति आ गई नहीं वित्थाया विदित्वा कर्म में संन्यास आत्मज्ञान के बाद संन्यास विदुषो वित्थान विधेयर अर्थवत्त उपति इस तरह से भी वो वित्थान विधि जो है वित्थान का विधान अर्थवान होगा ये कहा टिप्पणियां हैं दो तीन चार है दो में कहते हैं संभवती यदि पक्ष संभवती है पक्षांतर अन्य पक्ष भी हो सकता है संभव है एक पक्ष तो लोक संग्रह के लिए पूर्व पूर्व संस्कार के बल पर अभी भी कर रहा है दूसरा पक्ष है कि प्रारंभ कर्म से आक्षिप्त जो है शरीर इंद्रिया को प्रतिभा हो रहा है दिख रहा है उसको जली हुई रसी के समान हो जैसा भी दिखता है जब तक जीवन मुक्ति काल में है शरीर भान होता है भिक्षा प्रणाली कर रहा है शरीर को लेकर कर रहा है दिखता है होने से क्या करता है वो तो उस काल में शरीर भान होगा तो यावत जीवित अग्नोत्र जुआ वाक्य भी ख्याल आएगा उसको अविचारित अवस्था में उस वाक्य का किसको लागू होना विचार नहीं किया उस स्थिति में फिर अग्निहोत्र कर्म प्राप्त होगा उस स्थिति में वित्थाय पर वर्तमान हो जाएगा नहीं उठने को कहा है संन्यास ग्रहण करने को कहा है ऐसा चरितार्थ होगा कहा था इसलिए बोलते हैं यदा इत्यादि कहा तीन नंबर में कहते हैं प्रारब्ध कर्मा इत्यादि श्रुतिया भ्रांतव जन आया वास्तव में उसको कर्म प्राप्ति तो नहीं है यावा जीवादि श्रुति का कर्म नहीं श्रुति के द्वारा भ्रांति काल में प्राप्त है वो भ्रांति काल में मान ज्ञान काल में तो वहां से उठेगा वो भ्रांति काल में प्राप्त है ये कहा अच्छा तत्र तो आप प्रारब्ध कर्म प्रारब्ध कर्म से तो कारण से शरीर इंद्रिया आदि आक्षिप्त है तो आक्षिप्त होने से जीवन दिखा जीवन देखने से कर्म दिखा प्रारंभे न रक्षित हो यावत देहादि प्रतिभाषा प्रारंभ द्वारा रक्षित प्रारतम रक्षति बपू है ऐसा आया पुष्यति बपू विभूषुणाम ने कहा ये शरीर को पोषण कौन करता है प्रारब्ध करता है कितने भी आप पुरुषार्थ कर रहे हैं इसको बचाने के लिए किंतु बचा नहीं पा रहे क्यों प्रारब्ध और क्या कर सकते हम बचाने की कोशिश में ये बिगड़ता जा रहा है तो प्रारब्ध प्रारब्ध पुष्य प्रारब्ध पुष्यत बपू ये शरीर को प्रारब्ध ही पोषण करता है ऐसा आया है विभिन्न चोड़ावणी में तो प्रारब्ध है न हो प्रारब्ध के द्वारा रक्षित यावत देहादि है जज यावत देहादि प्रतिभाष है जब तक देहादि का प्रतिभाष होगा प्रारब्ध के द्वारा रक्षित जो प्रतिभाष है तावत तब तक कर्मारहम जीवनम जब तक ये समझेगा भ्रांति काल में ये जीवन कर्म के लिए है जो यावत जीवित अभिनेत्रम दिव्या कर्मारहम जीवन श्रुति से यावत जीवन कर्म हाँ, श्रुति बोलती है यावत जीवन कर्म यावत जीवित अभिनेत्रम यही आ कहती है भवेद भी कदाचित तत्कर्तव्यता विभ्रम कभी कभी ऐसी विभ्रम हो भी जाए क्या विभ्रम जीवन है तो कर्म करना पड़ेगा या वह जीवित अग्नोत्र जुहयात ऐसा विभ्रम हो भी जाए उसको उस ज्ञानी को जो तो शरीर में बुद्धि हो रही थोड़ी बहुत तो भवेद अभी कदाचित कर्तव्यता विभ्रम उस कर्म में कर्तव्यता का भ्रम यदि हो भी जाए तो तन निवृत्ति अर्थम उस भ्रम को निवृत्ति कर रही है कर्तव्य नहीं मेरे लिए नहीं वो अज्ञानी के लिए है उस भ्रम की निवृत्ति के लिए अपेक्षते एवं व्युत्थान विधि इसलिए भी संन्यास विधि व्युत्थान है कर्म त्याग विधि व्युत्थान विधि अर्थवान है कहा अर्थवान इत्यर्थ कहा चार में कहते हैं आगे अविचारित कहा था उसके लिए कहते हैं परमार्थता तो ईश्वरत्व वास्तव में ईश्वर भाव में है वो हम ब्रह्माष्टमी में पहुंचा हुआ है वास्तव में परमार्थ भाव में है किंतु प्रारब्ध कर्म से आक्षिप्त शरीर के कारण से कभी कभी उसको मनुष्य भाव भी आ जाता है ये कहते हैं परमार्थता ईश्वरत्व भी वास्तव में ईश्वर भाव में है वो जीवो ब्रह्म ही बना पर उससे भी वो तो अहम ब्रह्माष्टमी में पहुंचा हुआ है पर वास्तव में परमार्थ भाव में ईश्वर भाव में होने पर भी यावत देहादि प्रतिभाषा जब तक देहादि का भान होता है तब तक वहां अहम मनुष्य भाव भी आएगा ही उसको यावत देहादि प्रतिभाषा तावत प्रमाण व्यवहार के मनुष्यादि भाव को भी प्रमाण ही माना जाएगा जब तक शरीरादि भान होता है लौकिक प्रमाण है ये भी है मैं मनुष्य हूं कोई कहता तो अपराध नहीं कहता कब व्यवहार दशा में परमार्थ दशा में मैं मनुष्य हूं बोलता तो बहुत गलत बोलता है व्यवहार काल में मैं मनुष्य हूं कोई बोल रहा है तो प्रमाण है वो ठीक है व्यवहार व्यावहारिक सत्ता में बोल रहा हो तो ठीक बोल रहा हो पारमार्थिक सत्ता से मैं मनुष्य बोलता है तो गलत बोल रहा है आत्मा है सच्चिदानंद आत्मा है और मनुष्य बोलता है गलत बोलता है तो यही है तावत प्रमाण व्यवहार तब तक प्रमाण व्यवहार है जब तक देहादि हो रहा है तब तक प्रमाण व्यवहार होता है इसका प्रमाण तो उस श्रुति भी प्रामाणिक दिखाई पड़ेगी तब तक कौन यावत युगत तो अवतंत्र युग ऐसा क्योंकि ब्रह्म व्यवहारों की विदुषो न उत्पन्न ब्रह्म व्यवहार भी उसको हो सकता है तो अयुक्ति ने कहा नहीं कदाचित रज्जु सर्पाधिकम अभी नाशो इक्षते वो ज्ञान होने के बाद में कभी रज्जु सर्प को नहीं देखता ये बात में वहां वो भी दिखता है रज्जु में भ्रम हो जाता है सर्प का उसका ज्ञानी होने के बाद क्यों व्यवहार शरीर है अभी प्रारंभ कर्म के द्वारा आक्षिप्त शरीर है तो व्यवहार में तो माने वैसे हो जाता है ना कहा कहीं कदाचित रज्जु को असौ न इक्षते ऐसा नहीं दिखता ये बात नहीं तो यावत अज्ञ विषय इम श्रुति न इति न अवेक्षित जब तक उसके ये ज्ञान नहीं होगा जब तक देखता नहीं कि यह स्मृति अज्ञानी का विषय है कौन यावत जीव स्मृति जब तक ये अवेक्षण नहीं करता निरीक्षण नहीं करता जब तक इसे कहा तथो यावत अज्ञ विषया इम श्रुति थे न अवेक्षते जब तक ये स्मृति अज्ञानी को विषय करती है जब तक ये वीक्षण नहीं करेगा विचार नहीं करेगा तब तक तावत तस्यापि शक्य विभ्रम जन तुम इस तब तक उस ज्ञानी को भी विभ्रम पैदा कर सकती है कहा प्रामाण्यम तो प्रामाण्य भी दिखा सकते हो श्रुति में कहा तस्या अज्ञम प्रतिव सर्वम समंजस उस श्रुति का क्या होगा अज्ञानी के लिए ही संपूर्ण घर जाता है अत्र च एक वाक्य यद बा यद बा बा शब्द एक तरह अतिरिक्त दे ये एक ही वाक्य है टीका में यदवा पाठ भी है और बा पाठ भी है दो में से एक अधिक है टिप्पणीकार कहते हैं या तो यदवा को हटाओ या बा को हटाओ टिप्पणीकार कह रहे हैं अत्र तो एक वाक्य ये टीका आपने जो लिखा है एक ही वाक्य में यदवा बा शब्द है यदवा शब्द और बा शब्द दो शब्द वह ये टीका में यदवा से आरंभ किया आगे तो निवर्तन है नवा वह बा है फिर बा है तो दो में से एक अतिरिक्त है ये टिप्पणी कार की अपनी दृष्टि है ये कहा अतिरिक्त ये यदि सब प्रामाणिक है ये प्रमाद से रखा गया है वास्तव में दो तो नहीं होना चाहिए यदवा भी वही अर्थ कर रहा बा भी वही अर्थ कर रहा है एक ही वाक्य में दो बाह है यहाँ यदवा और बा दो में से अतिरिक्त है अधिक है ऐसा कहा अच्छा आगे कहते हैं हम एवं विदुषो वित्थान प्रसाद अनैना विद्या अकर्म निष्ठत्तम साधितम पूर्वादि ने कहा था ये जो आगे की जो आत्मविद्या है कर्मनिष्ठ है और कर्म संबंधी है ऐसा कहा था तो उसका खंडन कर दिया क्या खंडन कर ज्ञानी को जो वित्थान के द्वारा कर्म से वित्थान हो जाता है संन्यास हो जाता है त्याग हो जाता है ज्ञानी का कर्म नहीं कर सकता इस माध्यम को सिद्ध करके विद्या या अकर्म निष्ठतम साधितम ज्ञान जो होता है कर्मनिष्ठ नहीं है जो आत्मज्ञान होता है वो कर्मनिष्ठ नहीं है अकर्मनिष्ठ है सिद्ध कर दिया पूर्वादि के कर्मनिष्ठ है कर्म संबंधी है ऐसा कहा तो कर्मनिष्ठ नहीं तो कर्म संबंधी भी नहीं है या अब तक ये सिद्ध किया पहला जो पूर्वादि का पक्ष था उसका खंडन किया तेने वे बचसा जो कर्मनिष्ठ नहीं होगा तो उसी वाणी के द्वारा क्या सिद्ध होगा तस्या कर्मा संबंधों भी अर्थात साधिता कर्म का असंबंध भी दिखा दिया जब कर्मी के कर्मनिष्ठ नहीं है ज्ञान तो कर्म का संबंध भी नहीं होगा ज्ञान में ये भी अर्थ से सिद्ध कर दिया शब्द से तो कर्मनिष्ठ का खंडन किया है और अर्थ से कर्म संबंध का भी खंडन कर दिया इधानी अब विविशोरपी अब जो विविधिशु सन्यासी है वो कर्म करेगा कि नहीं करेगा ये प्रश्न है मैंने विद्वत सन्यासी कर्म नहीं कर सकता ज्ञान और कर्म का समुच्चय हो नहीं सकता ये सिद्ध कर दिया अब विविदिशु रपी व्यक्तुम इच्छु हो उस आत्म तत्व को जानने की इच्छुक है अभी आत्म तत्व ज्ञान नहीं है ऊपर ऊपर से थोड़ा ज्ञान हुआ है किंतु पूरा ज्ञान नहीं है व्यक्तुम इच्छु विविधिशु जानने की इच्छुक है इसलिए संन्यास ग्रहण करता है ये जो वैध संन्यास है जो गुरु के पास जाता है परंपरागत सन्यासी होता है उसके बाद क्या कर्तव्य बाद में नहीं करता ये गलत रहे शिखा सूत्र परित्यागी वेदांत श्रवणम बिना रसजन चंद्रिया ग्रामो नर पतन वृक्षत ऐसा कहा है शिखा सूत्र परित्यागी संन्यास ग्रहण कर लिया वेदांत श्रवण बिना उसके बाद यदि वेदांत श्रवण नहीं करता हो मैंने विविध से सन्यासी के लिए प्रसज्जस चंद्रिय ग्राम भोग विलास में डूब गया इंद्रियों को प्रसन्न करने लग गया नरह पतन विचि स नर पतन विचि नीचे गिरना चाहता अधपतन की ओर जाएगा ऐसा कहा होगा निर्देश सन्यासी को जो कर्म छोड़ा हुआ है कर्म के साधन जो त्यागा है कर्म छोड़ना मैंने कर्म के साधन शिखा सूत्र त्यागा है तो यही होता है वो कर्म के साधन ही छोड़ दिया तो कर्म नहीं करेगा वैदिक कर्म नहीं करेगा उसके लिए वेदांत श्रवण मनन नित्य ध्यासन के माध्यम से आत्म साक्षात करना अनिवार्य है यही उसका लक्ष्य है विविध संन्यास का लक्ष्य यही है यही काम है ते कहा एवं विविदेश वित्थान प्रसाधन है ना इस प्रकार जो विद्वत सन्यासी है विदुष माने विद्वत सन्यासी उसको वित्थान का प्रसाधन त्याग का प्रसाधन को द्वारा कर्म त्याग कर्म नहीं करेगा उत्थान के प्रसारण के द्वारा विद्याया अकर्मनिष्ठत्व साधितम ज्ञान जो है आत्मज्ञान कर्मनिष्ठ नहीं है माने कर्मी में आत्मज्ञान हो नहीं सकता क्यों देहाभिमान पूर्वक कर्म होना तब कर्मी बनेगा वो और यह आत्मज्ञान हुआ देहाभिमान को बाध करके ये सिद्ध किया तेरे भी वचन इसी अकर्मी निष्ठत्व वचन के द्वारा ही विद्याया निष्ठ वचन है नहीं वह तस्या विद्याया कर्मा संबंधों भी अर्थात कर्म का संबंध भी दिखा असंबंध भी दिखाया ज्ञान में यानी आत्मज्ञान में कर्म संबंध होने सकता कर्म और आत्मज्ञान साथ होने सकता ये दिखा दिया कहा इधानी विविधिशोर अपनी व्युत्थान प्रसाद है अब कहना चाहते हैं यदि विविधिशु अवस्था में है मुमुक्षु अवस्था में है तब भी उसका व्युत्थान कर्म त्याग ही दिखाना चाहते उसको भी कर्म त्याग करना चाहिए कर्म वो करेगा जो मुमुक्षु अवस्था में है जो स्वर्ग आदि फल चाहता पुत्र चाहता पत्नी चाहता स्वर्ग चाहता ब्रह्मलोक चाहता कर्म करेगा जिसको कुछ चाहिए नहीं यदि वैराग्य है तो विविदिश को भी कर्म त्याग कर देना चाहिए ये बोलना चाहते हैं इधानी विविदिशोर भी वित्थान प्रसाधन विविदिशों को भी संन्यास कर्म का त्याग संन्यास का प्रसादन करते हुए सिद्ध करते हुए विद्या या कर्मनिष्ठत्व कर्म संबंधित से दुरापास्त मिथ्या इसलिए क्या होगा विद्या मान आत्मज्ञान कर्मनिष्ठ नहीं हो सकता है और कर्म संबंधी भी नहीं हो सकते करके दूर से खंडन करते ये कहना चाहते हैं भाष्य में कहते हैं अब माने अविद्वत सन्यासी है विविधिशु सन्यासी विद्वत सन्यासी के बारे में प्रश्न हो गया है वो कर्म नहीं कर सकता आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है कर्म करे अब ज्ञान के लिए जो चल रहा है आत्मज्ञान के लिए वो कर्म करेगा कि नहीं करेगा वैदिक कर्म अग्निहोत्रादि करता कि नहीं करता इसके बारे में अविदिशा भी मुमुक्षुणा देखो अज्ञानी दो प्रकार के अज्ञानी है एक तो बुभुक्षु अज्ञानी है एक मुमुक्षु अज्ञानी विज्ञान नहीं हुआ है तो वो भी अज्ञानी है किंतु उसमें हल्का अज्ञान है बहुक्ष में ज्यादा अज्ञान है बात इतनी है जैसे एम ए पढ़ने वाला भी विद्यार्थी है शिशु कक्षा वाला विद्यार्थी है दोनों होते थे विद्यार्थी यहां भी दोनों होते हैं अज्ञानी एक में अज्ञान हल्का है जो मुमुक्षु होगा विविधिशु होगा और एक में गाढ़ प्रगाढ़ अज्ञान होगा बुभुक्षु में इतना अंतर है, है तो अज्ञानी दोनों है ज्ञान है तो ज्ञानी ज्ञान नहीं तो अज्ञानी अभिदिशा भी मुमुक्षु जो अज्ञानी मुमुक्षु है बुभुक्षु वाला नहीं मुमुक्षु है उसका उसके द्वारा भी पारिप्राज्यम कर्तव्य संन्यास ग्रहण करना ही उसको भी परित्याग ऐसा का परित्याग उसको भी करना है तथा श्रुति बोलती है शांतोतांत उपरति तितिक्षु तो भूतवा आत्मनिव आत्मा आत्मा आत्मनिव आत्मान पश्चेत ऐसा वृद्धारण श्रुति बोलती है शांत होकर के यदि मुमुक्षु अवस्था में है तो मन को इंद्रिय निग्रह करके दांत इंद्रिय निग्रह करके शांत दांत उपरति विषयों से इंद्रियों को उपराम करा करके अपने अपने गोलक में स्थापित करके इंद्रियों को विषय में जाने नहीं देना रोक के रखना ऐसा करके शांतो दांत उपरता स्थिति समाहित तो भूतवा एकाग्र हो जाना विक्षेप नहीं एक ही अग्र में है जैसे कुशा का प्रवाह एक ही आत्मदृष्टि नहीं जाना आत्मा ही चाहिए अन्य कुछ नहीं चाहिए ऐसा होगा जैसे नदी में डूबा हुआ व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पानी भी पी चुका हो उसके एक ही लक्ष्य होता है किनारा और कुछ नहीं दिखता उसको उस समय में धन संपत्ति पुत्र पत्नी कुछ नहीं दिखेगा उसको एक ही दिखता किनारा ठीक इसी प्रकार संसार से मुक्ति एक ही अभिलाषा जगी हो वो मुमुक्ष होता है मोक्तुम इच्छु मुमुक्षु ये सब छोड़ने की इच्छुक है इसको त्यागना चाहता है लोकेशा पुत्र पुत्रेशा सारी इच्छाओं समाप्त करना इच्छा इच्छा के साधन जो भी है सब समाप्त करना चाहता है वो मुमुक्ष होता है तो उसके लिए कर्म ये कर्म होते हैं देखो सभी आश्रमों के लिए कर्म ध्यान देना ब्रह्मचारी भी कर्म करना है और गृहस्थ भी कर्म करेंगे मानप्रस्थ का भी कर्म है सन्यासी का भी कर्म है सन्यासी माने ये सन्यासी जो से सन्यासी का कर्म एक सन्यासी का कर्म यह है मागे अग्निहोत्रादि कर्म नहीं इसका उसके लिए कर्म परित्याग करेगा अग्निहोत्रादि कर्म स्वर्ग आदि के साधन है क्यों करेगा स्वर्ग नहीं चाहिए उसको मुमुक्ष है ब्रह्मचारी के लिए कर्म होता है शास्त्र का अध्ययन करना अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन मैंने सड़ंग वेद का अध्ययन करना वह कर्म ब्रह्मचारी का है खाली वेद मतलब नहीं व्याकरण आदि जो वेद के लिए अपेक्षित हैं उसको पढ़ना है ब्रह्मचारी का यही कर्म होगा माने अध्यात्म शास्त्र का पठन पढ़ना गृहस्थ के लिए कर्म है अध्ययन दान है यज्ञ करना अध्ययन स्वशाखा अध्यतव्य और दान देना तो तीनों आश्रम गृहस्थों से पाले जाते हैं तीनों भिक्षुक है ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी आश्रम भिक्षुक है सन्यासी भी भिक्षुक है बानप्रस्थ भी भिक्षुक है गृहस्थ आश्रम तीनों को पालना है उसने तो दान देना है उसने यज्ञ अध्ययन दान रूपी कर्म है उसके लिए बानप्रस्थ के लिए कर्म है तप रूप कर्म है उसका एक ही कर्म सबके लिए नहीं अग्निहोत्रादि कर्म जो होते हैं आश्रम के हैं और हाँ। सन्यासी जो से सन्यासी होगा उसका ये कर्म है शांत होता अंत उपरति चिकित्सु समाहित हो आत्मी एवं आत्मान पश्य ऐसा कर्म है शांत हो जाना मन को एकाग्र करना मन को निग्रह कर निगृहित करना प्रदान कर इंद्रिय को दमन करना उच्छृंखल होने नहीं देना माने एक भजन गाते थे देखना ये इंद्रियों के न घोड़े भगे हैं ये इंद्रियों रूपी घोड़े भगे नहीं गए हम्म, रोक करेगा रात दिन इनके संयम के कोड़े लगे हैं ऐसा बोलते थे संयम रूपी कोड़े पड़ते रहे इनके लिए ऐसा भजन गाते थे माता तो विषयों में से निगृहित करके रखना जाने नहीं देना दान उपरती विषयों से उपराम हो जाना माने जब विषयों से इंद्रियों को लाया गया है तो अपने गोलक में ही बैठा है रखना का अभ्यास करना फिर जाने नहीं देना उस गोलक में उसको स्थापित करके रखना शांतो दांत उपरती तितिक्षु हो सहन करने की शक्ति होनी चाहिए शीतोष्णादि जो भी द्वंद्व है सहन करने की तितिक्षु सहन करने का आपको कोई स्तुति करता है अच्छा लगता है तो कोई गाली दे तब भी आपको उसी स्थिति में होना चाहिए सहन करने की शक्ति चाहिए समभाव में जाना चाहिए सहन करने से समभाव में व्यक्ति जाता है हर काम में सहन शीतोष्ण में सहन भूख प्यास में सहन सम होना चाहिए सहन शक्ति होना चाहिए सहनम सर्व दुखा नाम अप्रितकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगत्य थे तो चुड़ाम ने कहा है तितिक्षा उसी का नाम है जब तुम इच्छु तितिक्षु यही तो है ना त्यागने की इच्छु को तितिक्षु बोलते हैं सहन करने की शक्ति हो ऐसी आनी चाहिए जितने आप निंदा को नहीं चाहते हैं तो स्तुति को भी न चाहें तो आप सहन कर रहे हैं निंदा को नहीं चाहते स्तुति चाहते हैं तो तो सहन शक्ति नहीं आपके पास दोनों समान अरे तो सहन आप तिथिक्षु हैं उसका कटु बाणी और प्रशंसा पाणी दोनों को समान करें तब तिथिक्षु हो पाएंगे आप तिथिक्षु और उसके बाद समाहित तो एकाग्र हो जाना एक ही दृष्टि आपका आत्मदृष्टि में जाना है और कोई दृष्टि नहीं आता एक एवं अग्रे ऐसे सा एकाग्र एक ही आगे होना चाहिए कभी यहां कभी वहां बंदर की तरफ खुदलने वाली वृत्ति नहीं होनी चाहिए समाहित हो गुप्ता ऐसा समाहित होकर के आत्मनि एवं आत्मान पश्चिम अपने में ही अपने को देखे अधिकरण भी स्वयं है कर्म भी स्वयं है दृष्टा भी स्वयं है देखने वाला भी स्वयं आत्मा ही है ऐसा हो माने अपने को ही अपने में जाने हम में ऐसा जाने ऐसा कहा हुआ है ये विविदेशु सन्यासी का एक कर्म है चारों आश्रम में कर्म है किंतु अग्निहोत्र आदि कर्म इसके लिए नहीं है तो गृहस्थाश्रम के लिए है तो अग्निहोत्र आदि कर्म ये नहीं करेगा इसके लिए पारिप्राज्य है त्याग है ये बोलते हैं अभी दिशा साथ ही मुमुक्षणा पारिप्राज्यम कर्तव्य होगा पारिप्राज्य संन्यास यदि मुमुक्षु अज्ञानी है मुमुक्षु अवस्था में है तो उसको भी कर्म का परित्याग करके कर्म के साधन शिखा सूत्र परित्याग करके कर्म को परित्याग कर माने संन्यास आश्रम में जाना चाहिए वहां जाके आत्मचिंतन करना चाहिए यदि मुमुक्ष हो तो ये कहा विश्व संन्यास के लिए इत्यादि वचन प्रमाण ये वचन प्रमाण है उसको भी संन्यास के अधिकार है कर्म त्याग का अधिकार है ये वचन प्रमाण है क्या वचन शांतोदांत उपरिक्षु समाहित होता आत्मनिव आत्मा आत्मा आत्मनिव आत्मान पश्य ये वेदाग्नि श्रुति प्रमाण है समदमादि नाम च आत्मदर्शन साधन देखो समदमादि साधन है किसके आत्म साक्षात्कार के साधन है ये जिनके जीवन में आ जाए उसी को आत्म साक्षात्कार होगा जो इंद्रिय निगृहित कर सकता हो मनो निगृहित कर सकता हो हाँ और विषयों से वैराग्य लेकर उपराम हो सकता हो और एकाग्र हो सकता हो कोई आत्म साक्षात्कार कर सकता हो समदमादि नाम च समदमादि साधन बताए गए ये आत्मदर्शन साधना नाम ये आत्म साक्षात्कार के साधन है ये सब ऐसे जीवन साधन हो तो आत्म साक्षात्कार होगा साधना नाम अन्य आश्रम से पड़ता अन्य आश्रम में संभव नहीं है समदवादी होना अन्य आश्रम में संभव नहीं इसी में है ये संन्यास आश्रम में ही है इसलिए समदवादी साधन बताया आत्मदर्शन के लिए कहा क्यों श्वेताशुद्र उपनिषद ने कहा है अत्याश्रमी व्य परम पवित्रम प्रवात संगत ऋषिसंग दुष्टम ऐसा है ये कहा है क्या कहा अत्याश्रम के लिए कहा माने जो कुटीचक बहुधक हंस इत्यादि तीन आश्रम को अतिक्रम करके जो बैठा हुआ उसको अत्याश्रम कहा संन्यास सात प्रकार के मानते हैं हंस कुटीचक बहुधक हंस परम तो जो कुटीचक आदि को माने कुटीचक एक सन्यासी माना गया है कि कोई वस्त्रादि उसका गैरिक वस्त्रादि नहीं किंतु परमात्मा की भजन करने की इच्छा हो गई है फिर गई तो भिक्षावृत्ति में भी नहीं जाता है अपने ही खेत में अपने पैसों से कुटिया बना लेता है अपने जगह में बनाता है बनाने के बाद में कुटिया तैयार हो गई तो घर वालों को बोल देगा अब आज के बाद मैं घर में नहीं आऊंगा मेरी भिक्षा दे देना अपने घर की भिक्षा खाएगा घर वाली भिक्षा पहुंचा देते हैं भिक्षा खाएगा भगवान का भजन करता है तो त्याग तो किया ना परित्याग किया कुछ तो त्याग किया सन्यासी है वो उसको कुटिचक सन्यासी कहा दूसरा बहुधक सन्यासी एक तीर्थ यात्रा के दृष्टि से चलता है आज बद्रीनाथ में है अब रामेश्वर की लक्ष्य बना देगा भले छह महीना लगे दस महीना लगे जाने में पैदल जाना है रामेश्वर पहुंच गया फिर वहां से जगन्नाथ की लक्ष्य बना दिया तीर्थ के लक्ष्य से चलेगा तो बहुधक कहते हैं उसके बाद बहुत जल होता है हमारे यहां में परंपरा है क्या परंपरा है कि जब हम तीर्थों में जाते हैं हम जल लाते हैं तो बहुत जीवन भर घुमा है तो उसके बाद बहुत जल होगा बहुत तीर्थों का जल होगा बौद्धक सन्यासी कहा मैंने घर बार छोड़ दिया है तीर्थ करते हुए जीवन यापन कर रहा है तीर्थ से ही उसकी लक्ष्य है और कोई नहीं एक तीर्थ पूरा हो गया तो दूसरे तीर्थ लक्ष्य बना के चलना पड़ेगा भले शरीर रास्ते में शरीर पात हो जाए चाहे जो भी हो जाए लक्ष्य तीर्थ ही रहेगा वहां पहुंच जाए तो दूसरे लक्ष्य बना देगा इस तरह से जीवन यापन करता बहुधा तृतीय होता हंस जैसे हंस एक पक्षी है दूध और पानी मिलाकर के रख दिया जाए तो उसके गले में कोई ऐसी वस्तु है कि वहां गले में जाते जाते दूध फट जाता है अलग हो जाता है पानी अलग हो जाता है दूध दूध भीतर होता है पानी अलग होता है आप माफ करके रख दें बाद में वो पानी हमसे मिलेगा माने छेर नीर के विवेक करने की शक्ति है उसमें ऐसी शक्ति है पृथक करना दूध और पानी को अलग करने की शक्ति है हम सब उसी प्रकार नित्य अनित्य को दोनों को अलग करने की शक्ति जब आ जाए जीवन में उस काल में हंस कहलाता है हंस सन्यासी आत्मान विवेक कितना हो जाए उस काल में हंस कहते हैं उस काल में मैं ही परमात्मा हूं करके इस भाव में पहुंचना आगे उसको प्रगाढ़ स्थिति में पहुंचना परमहंस हो जाता है ये कहा हुआ है तो कहा श्वेताश्रम का अत्याश्रमी परमम पवित्रम यह आत्म ज्ञान जो है ना आत्मज्ञान के साधन जो अति परम पवित्र साधन है आत्मज्ञान ये आत्मज्ञान जो है आत्म प्राप्ति के साधन हम्म। ऋषि संग दुष्टम जो ऋषियों के समुदाय ने सेवित किया है जिस आत्मज्ञान को ऋषि प्रीति सेवन है सेवन किया है ऋषियों के समुदाय ने ऋषि लोग जिनको सेवन करते थे आत्मज्ञान को उसको प्रवाचक कहा किसको कहा अत्याश्रमिक तीन आश्रमों को अतिक्रमण करके जो चतुर्थाश्रम में बैठा है कुटीचक बहुदक हंसा तीनों को अतिक्रमण करके बैठा है इसको अत्याश्रमिक कहा अत्याश्रमिक ऐसे परमहंस के लिए ऐसा कहा आया इति चेता सूत्र है ऐसा कहा है उसके लिए आत्मज्ञान के साधन जरूरी है आत्मज्ञान के साधन है समदमादि होंगे तो आत्मज्ञान होगा तो आत्मज्ञान को उपदेशित करें होता है कहा और भी कहा है कैवल्य परिषद में कहा न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे न के अमृतत्व मानस कर्म से अमृतत्व को प्राप्त नहीं किया अमृतत्व ने आत्मतत्व न कर्मणा प्राप्त नहीं किया न प्रजया संतान से भी प्राप्त नहीं हुआ संतान ज्यादा होने से यदि संतान से प्राप्त होता था हमारे से पहले मोक्ष सुवर्णी को होना चाहिए उसके संतान बहुत ज्यादा हो जाते संतान से भी नहीं हुआ न कर्मणा न प्रजया न धने न धन से भी मोक्ष नहीं मिलने वाला है तो न धन है ना त्यागे ना केवल त्याग संन्यास कर्म त्याग लोकेशणा पितेषणा पुत्रेषणा का त्याग त्याग के माध्यम से ज्ञान ज्ञान के ज्ञान होगा तो त्याग करेगा त्याग से आत्म साक्षात्कार होगा त्यागे ना त्याग के माध्यम से माने ज्ञान हुआ तो त्यागा त्यागता है लोकेशणा पुत्र पुत्रेषणा सब हटा देता है लोग की इच्छाएं हटा देता है उसके प्रति उसको अमृतत्व से कुछ महर्षियों ने अमर तत्व को माने आत्म तत्व को प्राप्त किया उसका साधन त्याग बताया हुआ प्रजाधन कर्म नहीं कहा कई बड़ी स्मृति और भी स्मृति में कहा है ज्ञातवा नैष्कर्म में आचरे ऐसा है जान करके संन्यास ग्रहण करे नैष्कर्म मैंने कर्म का अभाव को नैष्कर्म कहते हैं निर्गता कर्म निर्गता कर्माणी यस्मात स निष्कर्मा तस्य भाव नष्कर्म कर्म जिससे निकल गए हों उसको निष्कर्मा बोलेंगे उस व्यक्ति को निष्कर्मा कहेंगे उसमें धर्म आएगा नष्कर्म ऐसा लेकिन निष्कर्म सिद्धि है सुरेश्वराचार्य जी को बनाया हुआ यही है कर्म कर्म का अभाव जहां जो व्यक्ति में कर्म का अभाव है उसमें जो धर्म आएगा निष्कर्म ज्ञातवा नैष्कर्म आचरण का जान करके संन्यास ग्रहण करे कर्म का अभाव करे संन्यास तो जानने के बाद क्या करेगा माने परोक्ष ज्ञान उसके बाद त्याग उसके बाद अपरोक्ष ज्ञातवा नैष्कर्म आचरण शास्त्रीय ज्ञान आपको हो गया परोक्ष ज्ञान हो गया तो संन्यास मृत्यु भी बोल दिया है और भी कहा है ब्रह्माश्रम पदे बसे कहा ब्रह्माश्रम में बैठे कहां बैठे ब्रह्माश्रम में जाके बैठ जाए माने ब्रह्म ज्ञान जिस आश्रम में होता है उस आश्रम में बैठे ये स्मृति का अर्थ है ये स्मृति का अर्थ है ब्रह्माश्रम पदे वसे ज्ञान जिस आश्रम में होता है कहाँ होता है ये संन्यास आश्रम होता है वेदांत की चर्चा यही है ब्रह्माश्रम पदे वसे उस स्थान में बैठे जहां ज्ञान होता हो क्यों आत्म साक्षात्कार साधन वही है आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान है ऐसा भी कहा है चर्चा ब्रह्मचर्यादि विद्या साधना नाम साकल्य अंत्याश्रम से उत्पत्तिर गारहते असंवाद और ये आदि जितने भी साधन हैं क्योंकि गीता में कई साधन बताया है आत्म साक्षात्कार करने के लिए टीका में उदाहरण देंगे गीता ष्ठ अध्याय देंगे ब्रह्मचारी प्रतिष्ठिता इत्यादि आएगा क्या क्या करना पड़ेगा आपको वहां पर योगी उंजीत सततम आत्मान रहस्य स्थित यहां से आरंभ कर दें साधन के बारे में जो योगी है निरंतर आत्मा का ही चिंतन करे एकांत में बैठे रहस्य स्थित योगी उंजित सतम आत्मान रहस्य स्थित आत्मा का ही जुड़ने का चिंतन करें एकाकी यथचित्ता साधना है एकाकी यथचित्तात्मा निराशीर परिग्रह अकेला होना चाहिए दो होगा तो क्रिकेट की बात आ जाएगी आप तो साधन नहीं करेगा आज वहां मैच चल रहा वहां मैच चल रहा यही चल रहा है अरे भीतर का मैच देखो जरा यहां भी मैं चल रहा है यहां भी भारत पाकिस्तान है दैवी दैवासुर संपत्ति यहां है दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति दोनों है लड़ रहे हैं बहुत देख लिया बाहर के क्रिकेट भीतर देखो भीतर का क्रिकेट देखना सीख रहा यहां भी चल रहा है दोनों वृत्तियां हैं यहाँ आसुरी वृत्ति दबोच रही है दैवी वृत्ति को दैवी वृत्ति पर आने की कोशिश करना चाहिए दैवी वृत्ति भारतीय जिताना दैवी वृत्ति को जिताना है तब यदि हमारे जीवन में दैवी वृद्धि वृद्धि हो तब ताली पे ये ध्यान देना है यहाँ है लड़ाई है भारत पाकिस्तान लड़ाई भीतरी है तो कहा योगी उंजीत सपनम आत्मान रहस्य स्थित एकाकी यथ चित्तात्मा निराश्र परिग्रह अकेला रहे और मन को नियंत्रण करके बैठे यथे चित्तात्मा मन को नियंत्रण करके बैठे मन विक्षिप्त होगा तो एकांत में और खतरा आ जाएगा हमको नियंत्रण करें निराशी किसी से आशी, आशा रखने वाला न हो ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा ये न हो ऐसा हो जाए और अपरिग्रह परिग्रह का अभाव करके बैठे ये सब साधन है आत्मज्ञान के लिए अपरिग्रह ऐसा है सुचौ देशे उसके बाद क्या करें पवित्र स्थान में आसन जमाए सुचौ देशे प्रतिष्ठा स्थिर महासन नातिश्रितम नाचरिचम शैलाजन पुरुषोत्तरम ये सब साधन बताया हुआ है पवित्र स्थान होना चाहिए कुछ तो स्वाभाविक पवित्र है कुछ प्रक्रिया से पवित्र बनाया जाता है हवन आदि करके पाठ आदि करके पवित्र किया जाता है या तो लिपाई गोबर आदि से लिपाई करके बनाया जाता है सुजोदय से प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसन आत्मा अपने आसन स्थिर आसन जमाए आत्मज्ञान प्राप्ति होंगे नात्युत्थितम नाचरितम ऊंचा नहीं होना चाहिए नीचा भी नहीं होना ज्यादा ऊंचा होगा तो लुढ़क जाएगा नीचा होगा तो कीड़े मकुड़े आ जाएंगे ज्यादा ऊंचा भी नहीं नीचा भी शैलाज में कुशोत्तरम सबसे नीचे कुशा होना चाहिए उसके ऊपर चर्म होना चाहिए उसके ऊपर भी वस्त्र होना चाहिए ऐसा आसन बनाया तो नीचे शीलन में नहीं आना चाहिए तत्र एकाग्र मना कृत्वा यथे चिन्ह इंद्रिया उस आसन में बैठे माने इंद्रियों की क्रिया और मन के क्रिया को नियंत्रण करके तत्र तो मना कृत्वा यथ चित्त इंद्रिय क्रिया चित्त और इंद्रिय की क्रिया को नियंत्रण करके उस आसन उपविश्य उसमें बैठकर उपविश्य आसन ही होगा योजन आत्म विशुद्ध है उस आत्मशुद्धि के लिए मन शुद्धि के लिए उस आसन में बैठ जाए और समम काय शिरोग्रीव धारण मतलब आगे और भी साधन है यदि ऐसा लुढ़केगा निद्रा आ जाएगी रीढ़ की हड्डी और गर्दन और सिर समान होना चाहिए समम है शिव ग्रीवम धारयन अचलम स्थिर और चलायमान नहीं होना चाहिए शरीर को संप्रेक्ष नाशिका क्रम सम अपनी नाशिका का अग्रभाग देखना चाहिए यही देखना बाहर इधर उधर की दृष्टि नहीं करना दिशा अनवलोकन दिशाओं का ध्यान नहीं देना इधर उधर आंख को नहीं ले जाना दूसरे के नाते के अग्रभाग तो देखते रहे अब अपने आंख के अग्रभाग देखना नाक के अग्रभाग देखना दृष्टि को यहां जमा देशस्चान अवलोकयम ऐसा आया है प्रशांत आत्मा विगत वीर और भी और भी साधन है आत्मज्ञान के लिए पांच श्लोक में बताया साधन प्रशांत आत्मा विगत वीर ब्रह्मचारी प्रतिष्ठित शांत आत्मा हो आत्मा मैंने मन वहां मन को शांत करके बैठे विगत भय रहित तो होना चाहिए भयभीत तो होगा तो साधन नहीं कर पाएगा विगत भी भय रहित हो प्रशांत आत्मा विगत वीर ब्रह्मचारी प्रतिष्ठित ब्रह्मचर्य वर्त में रहना चाहिए ये साधन यहां ब्रह्मचारी आदि साधन बताया इसमें मना समय चित्त युक्त आशीत मत पर मन को नियंत्रण करके मेरे में ही चित्त लगाने वाला हो आत्मा में ही चित्त लगाने वाला हो युक्त आशित मत पर मत परायण होकर के आत्मपरायण होकर के आशित बैठे ये साधन है यही बता रहे हैं ब्रह्मचर्यादि विद्या साधना नाम क्या ब्रह्मचर्या की जो ज्ञान के साधन है ये सब साकल्यण अंत्याश्रम से उपत्ति है संपूर्ण रूप से साधन अंत्याश्रमी जो परमहंस संन्यास आश्रम है संन्यास आश्रम से सिद्ध होते हैं बाकी में अधूरा होगा कहीं कहीं थोड़ा बहुत होगा पूरा साधन नहीं होगा इसलिए असंभव गारस्थे असंभवात ये गृहस्थाश्रम में असंभव है ये ब्रह्मचर्यादि संपूर्ण साधन कुछ कुछ तो होगा संपूर्ण साधन संभव नहीं है इसलिए संन्यास आश्रम की आवश्यकता है आत्म साक्षात्कार करना हो तो इसलिए विविधि सुख भी संन्यास में अधिकार है कर्म में अधिकार नहीं है यह सिद्ध हो रहा है फिर करेंगे टीका आदि से अभी समय हो गया है यही रखते हैं ओम बांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनोमी बाची प्रतिष्ठित आदिरावीर्मदेवी वेदस्य मानस्थ श्रुतम मे मा प्रहासी घृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम्